तो निरंतर ये তোমার আমার স্বভাব অপরাধ করা তোমার स्वभाव क्षमा जुगे जुगे जन्म जन्म ये संबंध तुम्हारा भगवान से कहता है वो मेरा तो स्वभाव है अपराध करना और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना युगों युगों से और जन्म जन्म से तुम्हारा हमारा जो संबंध बना रहा है तो ये संबंध टूटे नहीं तुमने तुम कभी क्षमा करने से बाज नहीं आए और मैं कभी अपराध करने से बाज नहीं आया इस प्रकार भगवान की कृपा का साधन निरंतर अनुभव करता रहे कि मैं अगर किसी पथ में गया तो भगवान छोड़ेगा नहीं ये विश्वास जो है ये विश्वास कहीं जाने बच्चा जो है ये माँ पर विश्वास है तो माँ को छोड़ कर चला जाता है खड़ा घट गया पर विश्वास है कि माँ मेरे किसी पर अपने आप आ जाएगी वो माँ से कभी ताकना भी छोड़ देता है अलग हट जाता है पहले तो ताकता है जैसा माँ ये करना भाग जाता है अब माँ जैसे फिर भागा तो माँ पीछे से जो भाग के दौड़ी ले आती वो भागता क्यों आता पड़ेगा इसीलिए भागता है इसका विश्वास है कि माँ लौटा के दूर जाएगी स्वाभाविक इसी प्रकार साधक का भगवान पर विश्वास करे अपने इष्ट पर कि मुझे वो भटकने देंगे नहीं मुझे ले आएंगे ले आएंगे छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते नहीं उनमें छोड़ने का स्वभाव नहीं वो मेरे बिना रहने नहीं के तो बात है भक्त अगर कोई हो हो ऐसा उसके बिना भगवान रहने जैसे भगवान के विरह में भक्त होता है इसी प्रकार भक्त के वियोग में भगवान रोके ऐसा होता है इतना जंगल हुए कि नहीं अरे जंगल जंगल में पेड़ पत्तों से पेड़ों से वृक्षों से अंकुरों से पशुओं से पत्नों से जलकणों से रजकनों से पूछते खड़े हमारी सीता का तुमने देखी है अंतर्यामी सर्वांतर्यामी सर्वव्याज्य भगवान सीता को नहीं देख रहे थे कि वो सब क्या नाम अशोक बाटिका में कहीं बैठी हुई होगी क्या उनकी आंखें बंद हो गई क्या वो वहाँ उनके आगे नहीं पहुँच सकी क्या उनकी वो सर्वांतर आत्मा एक देश में आकर के टिक गई कुछ नहीं पर ये जो भक्त और भक्त भगवान का संबंध है प्रेमी और प्रेमास्पद का संबंध है प्रिय और प्रियतम का संबंध है ये ऐसा ऐसा विगत संबंध है कि भगवान को भगवान को उस प्रेम के क्षेत्र में लाकर ऐसा बना देता है कि भगवान भी उस प्रेमी के लिए रोते रोते हैं भगवान विकल होते हैं कैसे मिले कब मिले व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं ये बड़े भाग्य की बड़ी सौभाग्य की बात है तो ये मैं कह रहा था ये इष्ट की बात अपने इष्ट में सर्वोपरि बुद्ध रहे अपने साधन में सर्वोपरि बुद्ध रहे सर्वोपरि का अर्थ ये कि दूसरे को भूल जाए दूसरे से तुलना न करे कम ज्यादा का वो मेल न बैठाए भूल जाए दूसरा कोई है ही नहीं जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूँ यही मेरा मार्ग और जिस भगवान को भज यही मेरे भगवान इसके बाद जब हम भगवान को पालेंगे तब भगवान के सारे रूपों भाई यहाँ तो मैं जज बन के जाता हूँ और यहाँ मैं पंडित बन के जाता हूँ और यहाँ मैं संचालक बन के जाता हूँ यहाँ मैं सेवक बन के जाता हूँ और मैं असल में ऐसा हूँ ये सती के सारे रूप तो कदमी को अपने आप सिद्ध हो जाएंगे अनुभव सिद्ध हो जाएंगे जब वो सभी को प्राप्त करके उनकी अंतरंगता प्राप्त कर लेंगे उनके बन जाए तो हमको तो ये चाहिए कि हम अपने इष्ट के अपने भगवान के बन जाए ये भगवान कैसे भी ये भगवान को लेके जो झगड़ना है ना ये ये साधकों का काम है ही नहीं ये तो दूसरा कोई तो है छोटा है तो बड़ा है तो वो करते हैं कि जिनका जिनका ब्याह नहीं हुआ जिन लड़कियों का कुमारियों का वो कैसे बड़ी बात करे कि वो बड़ा अच्छा खराब है विवाह होने के बाद किसका बड़ा अच्छा किसका खराब इससे क्या मतलब है हमारा आदत तो ये है दूसरा कोई है नहीं हम तो मतलब नहीं इसी प्रकार से इष्ट के साथ अपना संबंध कर ले भगवान के साथ संबंध कर ले साधक अपना अपने भगवान इसीलिए ये सत्संग में सारी बात सुननी बड़ी आवश्यक इनसे बड़ा लाभ होता है लेकिन जो एक मार्गीय साधक हैं उनको तो सुनने की आवश्यकता नहीं उनको तो केवलन अन्य कथा नहीं कानून कहते हैं कानून दूसरे बात सुनो केवलन और कथा नहीं सुनी हो रसना और न गई हो कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं जीव से दूसरी बात कहूंगा नहीं उनका पद जाने के जीवन के बल गई इसमें और एक भक्त कवि कहते कानन दूसरे काम सुनो नहीं एक ही रंग रंगो यह जोड़ो भोग दूसरे नाम करे रसना मुख हला है गुरु ठाकुर प्रीति के रूप यही हम शत्रु के नहीं भोरो बावरी दे जखिया जड़ जाए जो सांवर छाद रति गोरो ये साधन का तत्व है सारी इंद्रिया अपने इष्ट के साथ संयुक्त हो जानी चाहिए आप उसी को देखे कान उसी की बात सुने नाक उसी की गंध ले ये उसी का स्पर्श करे रचना उसी के प्रसाद को चखे इस प्रकार से तमाम इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा अहंकार के द्वारा अपने इष्ट के साथ जो नित्य संयुक्त रहे नित्य युक्त रहे भगवान ने ये अपनी भाषा में नित्य से कहा गीता तो नित्य युक्त तो नित्य का क्या समस्त इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर अपने भगवान के साथ जुड़ा रहे लगा रहे तो लगा रहेगा तुम किसी नहीं जाएगा तो, तो दूसरे जो जाएगा वो लगा कैसे रहा सर्वदा और सर्वथा नित्य रहा तो फिर घर का काम कैसे करे ये बड़ी सुंदर बड़ी अपने यहाँ हिंदू धर्म में तो ये ऐसा उदाहरण के संसार में है जैसे पति प्रत्याशी घर का काम है सब पति का स्वयं पति की और पति के लिए काम करती है और तो काम सब करती है इसी प्रकार से पतिव्रता पत्नी की भांति अपने स्वामी भगवान का काम निर्मित कर उनका अपना काम रहे नहीं भगवान ने अनन्य भक्ति का ऐसे बताया तो सबसे पहले एक पहले बात बताई मत कर्म कृत उससे अपना काम रहते ही नहीं वो जो कुछ भी काम करता है काम तो करता है कर्म तो काम सब करता है कर्म का आचरण करता है पर मेरा काम करता है अपना काम नहीं करता अपना काम जहाँ स्वतंत्र अलग है वहाँ तो दो भाग हो गए आजकल होता है पर दो दो लाइफ है पत्नी के दो तरह की लाइफ है एक उसकी पर्सनल लाइफ एक उसकी हाउस लाइफ दो अलग चीज है पति के साथ रह करके जो जो उनका जीवन हो वो घर का जीवन अपनी के लिए जो अपना जीवन हो वो व्यक्तिगत जीवन ये हिंदू आचार नहीं है अपने यहाँ तो दो जीवन है ही नहीं अपने यहाँ तो पत्नी जो है वो अपने नाम को रूप को पति के समर्पण करके सदगत प्राणा सदगत मना हो गई इसी प्रकार से जो भगवान का उपासक है जो भगवान का भक्त है उसके पास अपना कोई काम नहीं रहा भगवान का वो हो गया भगवान का काम उसका काम वो जो कुछ भी काम करता है दिन भर रात भर सोचता भी जो है जैसे कोई ईमानदार किसी फर्म का मैनेजर दिन रात अपने मालिक के फर्म की भलाई सोचता है उसी का काम करता है उसी के लिए ज्यादा से काम करता इसी प्रकार से वो भगवान भगवान का सेवक निरंतर आठ ऊपर सोता भी है उसी के लिए सोता भगवान ने ये संकेत किया कि भाई तुम हमारे लिए करो करो पहले से करो पहले से करने का सकते तो भाई भाई कल तो सौंप हम ले लेंगे यद करोसी यद असनासी यद होश ददास यद यद तपस्वी कौनते तत्पुरुष मदर्पणम केवल ये विद्वान तक की बात कैसे तो जरा बहरा जाता भाई ये धार्मिक सत्य शास्त्र प्रकार जो कुछ खाते हो ये बड़ी मजे की बात खाएं हम और प्रसन्न हमारे भगवान अर्पण करें उनके पेट भरे हमारा तो समझे उनका पेट भर गया बिल्कुल यही बात है जहाँ प्रेम होता है ना ये मार बच्चों को देखिए खाने की थोड़ी सी चीज हो तो मार भूखे रह जाती है बच्चों को खिलाती है तो समझती मेरा पेट भर उससे अपना पेट भरने की अपेक्षा अधिक संतोष होता है तुष्टि होती है मन में अपने बच्चे का पेट भर करके बड़ा बोले देखो इसका भर गया ना मैं तो खा सकू मुझे बड़ा आनंद आया तो जहाँ ये बड़ी सुंदर बात है दो भाव है इसमें दो भाव एक तो उसमें थोड़ा सा स्वाद है प्रेम बिल्कुल प्रेम है भाई खाते जो हैं तो नीचे बात तो अलग है स्वाद के लिए शक्ति के लिए भोग के लिए रस के लिए ये तो सब काम है यहाँ तो प्रेम का संबंध नहीं है एक बात ऊंचे से ऊंचे बात ये बताते हैं कि भाई इसलिए खाते हैं कि शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना भगवान को पाना है और भगवान को पाने के लिए भजन चाहिए और भजन के लिए शरीर चाहिए और शरीर के लिए खाना चाहिए इसलिए जो खाना जो भोजन वजन को बढ़ाने वाला हो इस प्रकार का श्रेष्ठ सात्विक भोजन वजन के लिए करें ये एक तो बात ऊंचे से ऊंची बात इससे ऊंची बात और है वो ये कि हमारे खाने को देख करके हमारे में राजी होते और कोई बात हमारा खाना हम हमको भोजन करते देख करके हमारे प्रियतम प्रसन्न हो अर्पण वर्पण की बात नहीं भजन होगा सो तो बात नहीं बच्चों खाते हो भाई देखो ना राजी हो रहे हैं हमें देख देख कर हमें खाते देख कर प्रसन्न होने के लिए खाते बोले नहीं तो नहीं बोलती बोले वो प्रसन्न यदि तुम्हारे न खाने में हो तो फिर नहीं खाएंगे राजा हमको तो उनकी प्रसन्नता से मतलब है खाने खाने से तो खाना छोड़ने से नहीं बोले तुम कपड़े क्यों पहनते हो बड़ा श्रृंगार करते हो बोले इसलिए करते हैं कि देह लेकर राजी होते हैं फिर नाराजी हो वो चाहते हैं बहुत रमाले तो थोड़े पहले रमा लेंगे हम तो कपड़े थोड़ी मतलब है बिल्कुल ये जो क्यों करते हैं इसलिए करते हैं वो राजी होते हैं फिर वो कहेंगे ये न करो तो बोले कहाँ करना है तो वो वजन को पूछ लिया सारे वजन को छोड़ दिया हुआ कर इंद्र नारायण तो कोई मतलब नहीं तो बात जितने वजन की पूजा होती इंद्र की पूजा होती इंद्र का याद होता किसने कह दिया बोले बाबा आपने वो तो नहीं करना नंद बाबा से कभी नहीं करना अब छोटे से बच्चे की बात कितना कुल परंपरा से होने वाला यज्ञ उस दिन का काम नहीं था नंद बाबा के कुल परंपरा से याद होता था छोटा सा बच्चा उसने कहा बाबा आपने तो गोवर्धन की पूजा करनी यज्ञ नहीं कर रहा ये बाबा ये, ये लाड़ा यही करें हाँ बाबा यही करो समझाया लोगों ने जो कर्मकांडी थे उन्होंने कहा कि बाबा बुरे हो गए बच्चे की बात मान रहे हो उनसे नाराज हो जाएंगे तो तो उनके ध्यान में नहीं आई ये बात सुना ही नहीं फिर लाला राजी है लाला राजी है इंद्र याद न हो और ये लोग संत पूजा भी करें ये करें इसका नाम ये कि भाई भगवान के राजी के लिए व्यक्त करना और उनके राजी के लिए उनका परित्याग भी कर देना उनके राज्य के लिए बहन पहने निजांगमति आदोप्यो ममे के समुपासते साध्यान बिना नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजन आज का श्लोक है तो गोपियां कपड़े क्यों पहनती हैं ये जेली क्यों बांधती हैं चादर क्यों डालती हैं श्रृंगार क्यों करती हैं इसलिए उनको शौक नहीं है उनको विलासिता से घृणा है उनको कोई चीज नहीं चाहिए इसलिए जिसने उनको देश का सुखी है वो बड़ा सुंदर पद है एक अब मुझे अभी याद नहीं एक सती रही एक छोटे सत्र थी तीन तीन वर्ष के चार वर्ष के अपना खेल रहे इनको देखने का मन करे अब जसोदा के मन में ये आ गया ये सोचा जसोदा तो- का डर नहीं था एक डर था कि बहुत सखियां आती हैं बहुत ज्योतियां आती हैं तू नजर लगा दे के लाला की बात तो और गुजर नहीं उनके मन में माँ है और कोई भाव तो है नहीं कहीं बहुत बहुत आती हूँ पर घूर घूर के देखती है आँख से कोई मुँह देखे कोई आँख देखे कोई हाथ देखे कोई नाक देखे कोई अंग देखे कुछ देखे पर ये घूर घूर के देखती है तो माता को उनके आने में तो दो भाव होता माता का ये भाव सुनिए बड़ा सुंदर भाव है जब वो गोपांगना है आती और आ करके छोटे से नन्हे से टिकट को देखते हंसते तो जब तुम माँ कहती आया करो लाला राजी होता है ना लाला राजी होता है लाला को राजी देखती तो बड़ी खुशी होती है आया करो आप बैठो बहन बैठो बैठो तो जैसी लाला आगे फिर शंका मन में आती अरे ये कहीं देख दिए तो एक नजर लगा दी तो लाला हो गया तो तब कैसी भोजन होगी ना <laughs> भोजन हो गई अब तुम जाओ जरा तो लाला क्लियो कराना इस तरह से मैया के भावांतर होते एक दिन की बात है एक दिन की बात है छोटे से श्याम सुंदर को देखने के लिए एक के मन में बड़ी भारी वो आकर्षण हो गया हो गया तो तुम कैसे देखे तो शाम का समय था परस नहीं थी तो दिया लेकर के आई बोले तो तुम्हारे यहाँ दिया जल रहा है उसके लो से लो लगा करके दिया जला ले तो लुटा हुआ बुझा हुआ दिया लेकर के जलाया दिया जलाने में जलाते इधर देखते इधर जला के बाहर निकली तो शुरू हो गई बुझ लिया तो फिर चली अरे फिर क्यों आ गई तो घर वाला दिया बुझ गया क्या करें तो दो बार चार बार पांच बार दस बार ऐसा हुआ तो मैया नहीं बोली मैया को अभी तक वही भाव था कि जो बार बार आती है उसको देख कर लाला हंसता है बार बार तो लाला खुशी हो रहा है तो कोई बात नहीं आवे आवे पर घर में जो परिचारिकाएं थी उन्होंने कहा ये तो कोई बात है तो दीवा बार बार बुझता है बुझा देती है क्या रखा है यहाँ पर मालूम होता है कि तेरे हृदय में ग्यारह है और इसमें उजाला है तुम अब तू तो अपने हृदय के अध्यायोग मिटाने के लिए इस उजाले के लिए आती मैं समझ इस पर एक पद है बड़ा सुंदर पद मुझे याद नहीं क्यों नहीं तू घड़ी घड़ी यहाँ आवे तो उसका पहला क्यों नहीं तू घड़ी घड़ी यहाँ आवे लिखा मेरे पास तो अब इसने सोचा अब कैसे आऊ जिस लग गई कहीं माँ ने कह लिया तो अब की वो जा रही थी तो गले में था मोतियों का हार बहुत मोती थे उसका गीत तोड़ करके तमाम हार की मोती वहाँ पर आंगन में बिखर गए अब एक मिनट का काम था आधी मिनट का काम अब मोती बीनना है ना इसको अब तो घंटों का काम हो गया बैठी बैठी मोती बीन मोती बीन और बोली लाला हंसे हाँ, अरे बोले कहा लाला हंसे हाँ, मोती बीन तो परिचार वो जो सखी रही परिचारिका उसने सत्य होता तो देख तुझे बहुत देर हो गई उसने कहा कि मैं क्या करूँ हाथ छूट गया तो गिर गए तब यशोदा जी बोली कि बहन डर जाना डर जाना तो लाला को देख के इसका मन सुख अरे बोले लाला कुछ हो गया तो बोले मैं कह रहे हैं देखने लग कर हंस रहा है लाला तो लाला भी बड़ी खुशी हो रही है उसको देखने तो डर ये ये बात है तो मतलब कहने का ये कि दूसरी ओर चित्त की वृत्ति जब जाती है ना तब साधन में दूर हो जाता है तो साधक का जो काम है आठों पर निरंतर योग में आया है प्रतिदिन का निरंतर सत्कारा सुविधे दृढ़ हुए है साधन की जलभूमि होती है कर निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक जो साधन प्रयोग होता है सब साधन की जलभूमि होती है आज किया और कल छोड़ दिया बोले कसिम के हो गए करते अब तो मन नहीं लग रहा है दूसरा देखेंगे इतने दिन तो हमारे पास तो कई आते हैं बोले हम तो हमने तो विष्णु भगवान का करिए आए थे भगवान भगवत बसदेव का जवाब दिया बहुत दिन तक कुछ हुआ हवाया नहीं और हमारा मन करता हरे राम हरे राम का मंत्र जाप करें हमने कहा इसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे तो ये जो होती है जो होती है ना बात इसमें क्या होता है कि इष्ट में और साधन में अपना प्रेम ही नहीं तो साधन ये करे जिसमें लगे जीत लगे निरंतर लगे और दीर्घ काल तक लगे दीर्घ काल का क्या जब तक सिद्ध न हो तब तक लगे रहे छोड़े नहीं जल्दी होगा उसकी प्रतिज्ञा यह रहे कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तो भगवान मिल नहीं जाएंगे तब तक इस मंत्र को छोड़ना ही नहीं क्या ध्रुव ने छोड़ा और जहाँ इस हो, हो गया दृढ़ ध्रुव के पास मारा छोटा बच्चा पांच वर्ष का एक दिन देखा उसने मार हो गई कथा विष्णु पुराण की अरे बच्चा मैं दुखी हूँ अरे बेटा बेटा देख तू मेरी तरफ देख तो दो चीज आती है एक आता है रोहन एक आता है भय माया आती है तो उसने उसने ध्रुव ने कोई ध्यान नहीं पांच वर्ष का बच्चा साधना में लगा ये सोच करके जब तक साधना की सिद्धि नहीं होगी भगवान नहीं मिलेंगे तब तक उठना नहीं बुद्ध ने कहा या सत्य तो शरीरम जहाँ तक ये साधना पूरी नहीं होगी वहाँ तक यहाँ से उठना नहीं है सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से युक्त दूसरी बात ये आती है फिर अश्रद्धा पूर्वक किया रात का भी शेर भी बहुत कहा करते हैं क्योंकि साधन में सुधार करो संध्या का तो समय तो लगता ही है सत्कार पूर्वक करो श्रद्धा पूर्वक करो सम्मान पूर्वक करो उस इष्ट देव का नाम इससे बढ़कर उसकी पूरी पूरी इज्जत करो ये नहीं कि फेंक दिया फेंक दिया ऐसे वैसे फेंक दिया जब इज्जत हो गई और जब भगवान को भगवान मान लिया पूजा हो जाएगी एक रहे गोपाल जी गोपाल जी की पूजा करता था एक साधन पूजा करे रोज पूजा करे रोज पूजा करे तो कुछ हुआ ही नहीं भी गोपाल जी को सब अलग करो इसने कहा कि आजकल करो चंडी विनायक हो तो कलयुग में देवी को भजो भाई गोपाल जी गोपाल जी काम नहीं करेंगे तो देवी की मूर्ति ले आया गोपाल जी को ऊपर आले में रख दिया देवी की मूर्ति की सेवा करने लगा आरती करे धूप जब दिया तब उससे बहम हो गया धूप का धुआं धूप तो पर जाता है और ये गोपाल जी के नाक में जाता है पूजा गोपाल जी की हो गई तो ठीक नहीं हुआ तो रूई लेके गोपाल जी के नाकों में ठूस दिया क्या रूई ठूसी की, की गोपाल जी राजी हो गए अरे बोले मैं पसंद हो गया तू बर मांग ले बोले नई पूजा की पद्धति मिली आज की चीज नहीं चढ़ाया माला चढ़ाई खाने पीने को दिया तब तो आप गुम सुन बोले नहीं पर नाक में रूई ठूसी की बोले तो वे भैया तुमने अब तक हमको पत्थर माना था पत्थर पर गंधाते नहीं तुमने पत्थर की पूजा की थी गोपाल जी की नहीं आज तुमने चेतन गोपाल जी को समझ लिया कि साक्षात ये गोपाल जी है नहीं पत्थर पर तो धुआं लगता नहीं गंधाती नहीं तुमने समझा गोपाल जी के गंधे न चली जाए तुमने आज गोपाल जी माना आज जी हो गए तो अपने भगवान के प्रति अपने इष्ट के प्रति सत्कार होना चाहिए श्रद्धा बुद्धि होनी चाहिए कि ये भगवान ही है हमारे यहाँ लोग मानते नहीं हैं सेवा के बत्तीस अपराध बताए शास्त्र मैंने भगवान के मूर्ति की पूजा करे मैंने बत्तीस चीजों से बचे जोर से बोलना खांसना हंसना लंबे पैर पसार के बैठना बगबात करना अभवायु का छोड़ना दूसरे को प्रणाम करना इत्यादि बत्तीस प्रकार के अपराध हैं क्यों अपराध है ये मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा करते हैं मूर्ति नहीं है वो तो साक्षात भगवान है वही भगवान कल मैंने बताया था अत्यावतार मीरा के सामने अत्यावतार हुआ तो ये इसी प्रकार साधन में जो साधन हम करें निर्गुण का करें सगुण का करें साकार का करें कोई आपत्ति नहीं पर जो करें उसमें हमारी श्रद्धा बुद्धि हो की ये हमें सबसे बढ़कर आदर की वस्तु है क्यों ये भगवान को मिलाने वाला है लोभी आदमी के लिए वो व्यापार बड़ा प्रिय होता है जो उसको धन देता है स्वाभाविक बात इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना चाहने वाले के लिए वो साधन बड़ा प्रिय होता है जो मिलाता भगवान गरुण ने पूछा कालभूषणी से कि और आप इतने बड़े ज्ञानी इतना आपका आराध ज्ञान और आप इस कौए के शरीर को क्यों पाले हुए रखे हैं बोले बोले भैया तुमको पता नहीं इस कौवे के देह में ही तो हमको राजमंत्र मिले और अब बोले बड़ा मजा आता है जब जब भगवान आते हैं राघवेंद्र अवतार लेकर के तो छोटा सा कौवा बन जाता हूँ और जिस आंगन में जिस क्षेत्र में वो खेलते हैं वहां जाता हूँ साथ साथ उठता हूँ तो देखे मेरे पीछे दौड़ते हैं मुझे कूप दिखाते हैं कुआ दिखाते हैं तो बड़े मजे में ले लेता हूँ जहाँ से ये आनंद कौए को कहा मिलेगा तो ये कौए का शरीर है ये मेरे लिए सत्य क्योंकि ये भगवान को मिलाने वाला ये मतलब जो साधन इष्ट की सिद्धि कराने वाला हो वो वास्तव में प्रिय होता है और अगर प्रिय नहीं है तो दो बातों में एक बात है या तो उस इष्ट की उसे इच्छा नहीं है उसका इष्ट ही नहीं है इच्छित ही नहीं है उसको चाहता ही नहीं चाहता हो तो क्या साधन में उसकी प्रियता हूँ जिस जिस उपाय से प्राणनाथ के दर्शन हो उस उपाय को क्या कोई प्यारा छोड़ देगा जिस उपाय से धन मिलता हो उस उपाय को क्या धन का लोभी छोड़ देगा वो तो उसमें लगेगा जीवन लगा देगा हम देखते धन के लोभ में तुम झूठ बोलते हैं धर्म तक तो छोड़ देते हैं प्रदेश जाते हैं घर छोड़ जाते हैं खुशामद करते हैं लोगों की हर तरह से सेवा करते हैं पैसा मिले तो किसी भी साधन का हम तिरस्कार नहीं करते तो पैसा मिले इसलिए तो क्या भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाला साधक भगवत प्राप्ति के साधन का किसी प्रकार से तिरस्कार करेगा अगर वो करता है तो उसके अपने साध्य में और साधन में दोनों में ही उसकी अश्रद्धा है उसका सत्कारा सेवित हो सत्कार के द्वारा आसेवित हो मन श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक तो साधन बने और वो नित्य नित्य तो निरंतर बनता रहे और नित्य बनता रहे दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जो साधन बन, जो साधन बनता है वो दृढ़ होता दृढ़ भूमि होती तो अपने इष्ट में सर्वोपरि भाव इष्ट की प्राप्ति साधना में सर्वोपरि भाव और ये विश्वास निरंतर बढ़ा चला जा रहा हूं बड़ा दुखता नहीं है जो भगवान की ओर चल पड़ा और जिसके मन में त्वरा है वो रुकेगा कैसे वो तो चल पड़ा वो तो दौड़ता है उसको तो दिखाई देता है कि मैं चल पड़ा दौड़ो पहुंचूंगा अभी पहुंचूंगा पहुंच जाऊंगा मेरे बल में तो क्या है ले नाच का बल मिलेगा मैं आगे बढ़ूंगा चलो जी अब